यकीनन अल्लाह ताला ही दाने और गुठली को फाड़ने वाला है वो जिंदा को मुर्दा से निकालता है और वही मुर्दा को जिंदा से निकालने वाला है वही अल्लाह ताला है फिर तुम किधर को बहकाए जाते हो